कर्म उपासना के विषय में व्यक्ति की स्थिति अवस्था क्या क्या होती है कब कब व्यक्ति अपने ज्ञान कर्म उपासना के विषय में किस प्रकार से वो सोचता विचार करता है किस प्रकार से ज्ञान कर्म उपासना के विषय में व्यक्ति को विचार करना चाहिए और किस प्रकार से नहीं करना चाहिए इन सभी धाराओं को व्यापारों को व्यक्ति जान करके ये देखता है कि मुझे अपने विचार किस प्रकार से व्यवस्थित करने चाहिए जब व्यक्ति देखता है कि मेरा ज्ञान मुझे क्या दिखाता है अर्थात मैं इस वर्तमान काल में अपनी ज्ञान में किस वस्तु को कैसा समझ रहा हूं फिर वो देखता है कि मैं कर्मों को अर्थात मानसिक कर्म फिर वाचनिक वाणी के कर्म फिर शरीर के कर्म किस प्रकार से किन को मैं करता हूं इसी विचारधारा में वो देखता है कि मैं अब ईश्वर से प्रेम कर रहा हूं अथवा जीवों से या प्राकृतिक पदार्थों से आप सतत दैनिक व्यवहार में ये देख सकते हैं कि मैं अब ईश्वर से प्रेम कर रहा हूं या अन्य वस्तुओं से तो आपको परिज्ञात होगा कि प्रायः व्यक्ति कुछ संध्या काल को छोड़ के ईश्वर से प्रेम या ईश्वर की उपासना करनी छोड़ देता है उपासना छोड़ना ईश्वर की उपासना छोड़कर अन्य वस्तुओं की उपासना करना कैसे होता है कब होता है ये उसको पता भी नहीं चलता अर्थात कर्ता जीव आत्मा है ईश्वर की उपासना को छोड़ना और जीवों और प्राकृतिक पदार्थों की उपासना को करना ये जीवात्मा करता है सब और वो इसको करता हुआ भी ये नहीं जान पाता अब मैं ईश्वर की उपासना को छोड़ रहा हूं और अन्यों की उपासना प्रारंभ कर रहा हूं उसको ये पता तक नहीं चलता आपका क्या अनुभव है क्या आपको चलता है पता ब्रह्मचारी बताएंगे हाँ जी बोलो नहीं चलता पता आप बोलो किसको चलता है पता उदाहरण के रूप में आपने घंटी सुनी और आपने निर्णय किया कि अब मैं अध्ययन को छोड़ के भोजन खाने के लिए जा रहा हूं निश्चय करके चले आप ऐसे ही क्या आपको यह अनुभूति नहीं होती अब मैं जीवों या प्रकृति से बने पदार्थों की उपासना कर रहा हूं या आरंभ करता हूं और ईश्वर की उपासना छोड़ रहा हूं ये दैनिक जीवन में कोई पता नहीं चलता आपको तो आपने सुना होगा आत्मनिरीक्षण करो आप दैनिक आत्मनिरीक्षण करते हो पर ये जो आत्मनिरीक्षण का जो क्षेत्र है इसकी जो भूमि है इसका जो विस्तार है वो आपने प्राय नहीं समझा होगा आत्म निरीक्षण का क्षेत्र क्षण क्षण भर चलता है अर्थात आत्मनिरीक्षण दिन भर किया जाता है क्या समझ में आया बोलो क्या समझ में आया आत्मनिरीक्षण दिन भर किया जाता है और जो दिन भर आत्मनिरीक्षण नहीं करता वह व्यक्ति अविद्या से बचकर विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाता अशुभ कर्मों से बच के शुभ कर्म नहीं कर पाता और अशुद्ध उल्टी उपासना से बच करके वह शुद्ध उपासना नहीं कर पाता फिर से सुनो जो व्यक्ति दिन भर आत्मनिरीक्षण नहीं करता क्षण क्षण भर में भी आत्मनिरीक्षण नहीं करता वह व्यक्ति अविद्या से अपने आप को नहीं बचा सकता और विद्या की प्राप्ति ऊंचे स्तर पर विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाता अशुभ कर्मों से वो अपने आप को नहीं बचा सकता और शुभ कर्मों को अच्छे प्रकार से नहीं कर पाता तीसरे भाग में अशुद्ध उपासना से वो अपने आप को पृथक नहीं रख सकता शुद्ध उपासना को संपन्न नहीं कर पाता ये स्थिति बनी रहेगी आपको समझ में आई कुछ बात या नहीं आई हम्म? आत्मनिरीक्षण में ये चलता है अब मैं जो ज्ञान ग्रहण कर रहा हूं या अब मेरा ज्ञान काम करता है ये शुद्ध ज्ञान है या अशुद्ध है ये निरीक्षण में आई बात उसको पता चला अब मैं जिस ज्ञान से देख रहा हूं मेरी जो ज्ञान के आधार पर मेरी रुचि बनी है वो ज्ञान वास्तव में मेरा अशुद्ध ज्ञान है अथवा शुद्ध ज्ञान है उदाहरण के रूप में आप देखेंगे आपके मन में एक बात आई जो ये स्वादिष्ट पदार्थ हैं खीर हलवा फल आदि इनमें बड़ा सुख है और इस सुख को पर्याप्त किया जाना चाहिए जिस समय आपने देखा कि अब हम ऐसी चीजें खाएंगे तो उस समय आपने ये नहीं देखा कि ये लौकिक जो सुख है भोजन में खाने पीने में पांचों इंद्रियों का ये क्षणिक है और इसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित है ये मान करके आपने उसका परित्याग नहीं किया मन से ग्रहण किया कि इसमें सुख है खाते समय भी आप कर सकते हैं ऐसा खाने जा रहे हैं तब भी कर सकते हैं और अन्य काल में विचार करेंगे कि आज खाना है पीना है उसमें सुख है उसमें भी स्थिति बनेगी विचारों को करते हुए व्यक्ति ये विचारता है कि हाँ इनमें सुख है विचार करता हुआ फिर वो खाता हुआ भी ये मानता है कि हाँ इनमें सुख है अब आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो जिस समय आपने ये मन बनाया कि इनमें सुख है तत्काल देखा ये मेरा ज्ञान ठीक नहीं है इनमें सुख है आत्मनिरीक्षण ये हुआ अब क्यों क्योंकि इस ये सुख क्षणिक सुख है यद्यपि लौकिक पदार्थों में सुख का अभाव नहीं है सुख है वहां ये सभी मानते हैं ऋषि लोग और वो ये मानते हैं कि क्षणिक सुख है एक बात और परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख इन चारों दुखों से सम्मिश्रित होने के कारण उस सुख को भी दुख माना जाता है आया समझ में हम्म? सूक्ष्मता से देखो जिस सुख में दुख मिला हुआ है यदि व्यक्ति की बुद्धि ये काम करती है कि इसमें दुख मिला हुआ है तो वो सुख उसको दुख दिखाई देता है दोहराओ क्या क्या हम जिस सुख में व्यक्ति को नहीं आया समझ में क्या समझ में आया जिस सुख में हुँ? हम्म? नहीं सुनाई दिया क्या दिया दुख मिश्रित है है जी दुख मिला हुआ दिखता है वह सुख और वो जब वो देखता है उसको कि इसमें दुख मिला हुआ है तब उसको वो सुख भी दुख दिखाई देता है या नहीं है जी और एक मोटा सा दृष्टांत लें हम कि एक व्यक्ति ने कहा ये गुलाब का फूल है इतने झाड़ झंगाड़ों के बीच में खड़ा है और बहुत सुगंध आती है इसमें से कल्पना करते हैं तो इसको तोड़ के लाया जाए उसने कहा तोड़ के लाने में तो मेरे इतने कांटे लगेंगे इतना कष्ट होगा इतना खून निकल आएगा इतना वहां संकट हो वहां वो देखेगा इसमें से जो सुगंध आएगी और वो मुझे अच्छी लगेगी इससे कई गुना तो मुझे दंड भोगना पड़ेगा फूल निकालने क्या नहीं है हाँ जी तो वो व्यक्ति उस फूल को तोड़ने के लिए झाड़ जंगाड़ में उस अवस्था में नहीं प्रवेश नहीं करेगा अच्छा अब गहराई में चलो सूक्ष्मता में जिस समय व्यक्ति ये मानता है कि इस इंद्रिय के भोग में सुख है और फिर वो देखता है कि इसमें परिणाम दुख है ताप दुख है संस्कार दुख है गुण वृत्ति विरोध करके मैं इसका भोग नहीं करूंगा ये तो दुख है जब इंद्रियों के सुख में वो चार प्रकार का दुख देखता है उस काल में उसको उस दुख समझ के वो छोड़ देता है ये आत्मनिरीक्षण में चलता है तो फिर क्या किया जाए विपक्ष में सुख तो संसार में कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार से जिसमें दुख मिश्रित ना हो तो उसने पढ़ा है उसने सुना है उसने जाना है दर्शन उपनिषदों से उसने समझा है वेद को तो उसने देखा कि परमात्मा में ऐसा सुख है जो नित्य है उसमें दुख मिश्रित नहीं है ये देखा जब ये देखा तो उसने परमात्मा की उपासना प्रारंभ कर दी अब उसका ज्ञान ठीक काम कर रहा है कि इसमें चार प्रकार का दुख मिश्रित होने से दुख रूप है तो उसका ज्ञान ठीक है व्यक्ति का ज्ञान ठीक है ईश्वर का मैं नित्य सुख है दुख रहित सुख है इन दोषों से रहित सुख है उसने उसको आरंभ कर दिया तो इसका ज्ञान ठीक हुआ तो इसका ज्ञान ठीक हुआ तो फिर इसने उपासना भी ठीक ज्ञान पूर्वक आरंभ कर दी ये दैनिक जीवन की बात है दैनिक जीवन में व्यक्ति ऐसा सोचता है ऐसा करता है और जो ऐसा नहीं करता वो व्यक्ति विद्वान नहीं है आप कसौटी से देखो पढ़े लिखे जितने हैं आप पढ़ाते हैं पढ़ते हैं उपदेश देते हैं खूब सब कुछ होता है पर आप आत्मनिरीक्षण करेंगे तो उस समय यह परिणाम निकलेगा कि मैं विद्वान व्यक्ति नहीं हूं मैं अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं मेरी विद्या ठीक काम नहीं कर रही है क्योंकि मैं इन विषयों में सुख मानता हूं और दुख मिश्रित मान के त्याग नहीं कर रहा हूं परंतु समण रखना ये अनुभूति जो मैं सुना रहा हूं ये थोड़े से परिश्रम से थोड़े से काल से थोड़े से अध्ययन से थोड़े से वैराग्य से थोड़ी सी ईश्वर उपासना से थोड़े से सत्संग से सिद्ध होने वाला नहीं है नहीं कर सकता व्यक्ति प्रश्न अब क्या समझ में आया ये इतना इतने शब्द जोड़े ना <laughs> कौन से जोड़े ये स्थिति जो मैंने सुनाई कैसी से दोगी नहीं कैसी से दोती थोड़े से वैराग्य से थोड़े से जान से थोड़ी से उपासना से हाँ। थोड़े से कर्म से हाँ। सिद्ध नहीं नहीं होते और ये याद रखना इसको सिद्ध किया जा सकता है असंभव नहीं है अब क्या याद करेंगे आप yes. सिद्ध किया जा सकता है असंभव उसमें एक कारण पहले जो आपको सुनाया गया था ये व्यक्ति आलस्य प्रमाद से युक्त हो अनेक लौकिक भोगों को का इच्छुक व्यक्ति इसको सिद्ध नहीं कर सकता एक बात इस इससे संबद्ध है ये सारा ज्ञान का उल्टा कर देना सुलटा कर देना विपरीत कर्म करना और अच्छे कर्म करना शुद्ध उपासना करना अशुद्ध उपासना करना इसका जो है संचालक इसका जो है कर्ता धरता कौन है आप बोलोगे कौन है जी आप बताओ जीवात्मा अरे जीवात्मा स्वयं वहाँ आप देखेंगे जीवात्मा है आपने सिद्धांत रूप में मान लिया कि जीवात्मा करता धरता है इन तीनों का अर्थात शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना अथवा अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध कर्म अशुद्ध उपासना का करता धरता सब पर वहाँ ये जीवात्मा मन इंद्रियों का दास बन करके दिन भर नाचता रहता है और ये होते रहते हैं और ये इनको रोक नहीं पाता अब क्या समझ में आया नहीं आया समझ दोहराओ नहीं आया तो फिर जो दिन भर इंद्रियों का दास बना रहता है मन इंद्रियों का दास बना रहता है और अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध कर्म अशुद्ध उपासना दिन भर करता है और आप देख सकते हैं ये स्थिति आपकी जिसने इतना ऊंचा स्तर प्राप्त नहीं किया सबकी यही मिलेगी अच्छा एक कल्पना करो एक बहुत सुंदर चीज सामने आई और आप ये पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि ये बहुत सुंदर वस्तु है बड़े अच्छी देखने योग्य है फिर आपने ये देखा ये सुंदर रूप से जो सुख होता है ये दुख रूप है कहां पढ़ा है आपने विषय सुखम अविद्या इति विशेष हुक्म च च पाठ है ना विशेष हुक्म च अविद्या इति उक्तम विशेष सुख तो अविद्या जनित है भ्रांति से सुख माना जाता है आया समझ अब इतना जानते हुए भी फिर भी सुंदर रूप में आपका मन जा रहा है आप प्रयासशील है रोके और वो जैसे गुब्बारा भाग के जाता है ना दबाव पड़ने पर वो ऐसे तनाव पैदा करता है आप उसको रोक रहे हैं आप रोक रहे हैं वो भाग रहा है जैसे या नहीं होता ऐसा मन में आप तो रोकने का प्रयास करते हैं और वो निकलने का कर रहा है ऐसी नहीं देखो कहता नहीं नहीं नहीं देख नहीं नहीं देखो आप ऐसा परीक्षण कर सकते हैं या नहीं करोगे आप जब सूक्ष्मता से देखोगे नहीं देखोगे तो कोई पता नहीं आपको चलेगा नहीं देखोगे तो सुंदर है देखो आया गया और चलता रहेगा कोई पता नहीं चलेगा आपको मैं क्या कर रहा हूं जब आत्मनिरीक्षण करेंगे कि मैं मन से क्या कर रहा हूं इस सुंदर रूप का रस ले रहा हूं तब पता चलेगा कि हाँ अब मैं रस ले रहा हूं और अब मुझे रोक देना चाहिए मन अब वो रोकने का प्रयास करता है फिर वो और रोकने का वो प्रयास करता है ऐसे निकल गया यहां से रोका फिर ऐसे निकल गया यहां से रोका वहां निकल गया फिर निकल गया फिर निकल गया वो या तो ये कहेगा कि भाई ये रुकने वाला तो है नहीं छोड़ो ढीला और लोगों ने कहा तुम उनको ढीला छोड़ दो अपने आप रुक जाएगा जैसे महेश योगी फलाना ये वो कहते हैं ना नहीं सुना आपने मन को बिल्कुल खुला छोड़ो खुला छोड़ने पर नितांत एकाग्र हो जाएगा अपने आप भाग दौड़ के थक जाएगा लोगों ने सोचा ये बहुत अच्छा व्यक्ति है महान व्यक्ति है महात्मा है गुरु जी की बहुत अच्छी बात है गुरु जी इतना अच्छा बोल रहा उसको ये पता नहीं ये गुरु जी महामूर्ख है और ये सुनने वाले भी मामूरक हैं दोनों के दोनों अज्ञानी अज्ञान से परिपूर्ण है और दोनों संतुष्ट हैं गुरु जी का उपदेश कि खुला छोड़ो जो आए इसको जाने दो जा जाए जाने दो जो इच्छा हो वो भोग लो अपने आप भोग होने के पश्चात अपने आप रुक जाएगा तो शिष्य भी ये बहुत अच्छा उपाय है और वो करने लगते हैं भोगो जो चीज आए भोगो जो इच्छा हो देखो और गुरु जी ने छूट दे दी कि जो इच्छा हो वो खाओ पियो जो इच्छा हो भोगते चले जाओ रोकने का प्रयत्न उन्होंने कहा जी ये सरल उपाय है ये लोग कहते ये बहुत सरल उपाय बड़ा आराम रहता है नहीं? <laughs> या नहीं है अच्छा आपको ये कहा कि भाई ये चीज खानी है ये नहीं खानी मिर्च नहीं खानी है ये प्याज लहसुन नहीं खानी है ये नहीं खाना है आपका मन है कि खानी चाहिए दुनिया खाती है खानी चाहिए खानी चाहिए कहता नहीं खानी चाहिए वो रोज यही तनाव रोज यही वो कहता जी मेरा मन ही नहीं रुकता मैं कहता हूँ ये न खाओ ये न खाओ ये न खाओ और फिर भी जा रहे हैं दूसरे उसने कहा ये उपाय नहीं है जिस दिन इच्छा हो मिर्च खा लो ये खा लो प्याज लहसुन खा लो जो आया वो खाता गया खाता गया तो कोई तनाव ही नहीं रहा जो आया सो खाता रहा तनाव नाम की चीज ही नहीं है फिर वहां <laughs> नहीं समझे आप जो आया सो खा लिया भाई जो आया सो ठीक है ये सरल कितना सरल दिखाई देता कहते जी तनाव समाप्त हो गया और जो लोग ये नियम बनाते हैं तुम ये मत खाओ ये खाओ ये खाओ वो बेकार उनका ये अनुशासन है इसमें कोई लाभ नहीं है इसमें कभी मन स्थिर हो ही नहीं सकता ये आजकल के लोग कहते हैं समझ में आ गया नहीं आया है जी हाँ जी? आया आज के लोगों की भ्रांत मान्यता हम्म। तो हम यहां सोच रहे थे कि ये जो विचारों का करने वाला ज्ञान विज्ञान का परित्याग ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति अशुभ कर्मों का प्रारंभ और शुभ कर्मों का परित्याग शुद्ध उपासना का परित्याग और अशुद्ध उपासना का प्रारंभ है ये दिन भर जीवात्मा करता रहता है उल्टा सीधा जी अब वो इतना होते हुए भी नियंत्रण नहीं कर पाता ये मेरा ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है इसको रोक दिया जाए ये मेरा ज्ञान ठीक है इसको रखा जाना चाहिए ये मेरा कर्म अशुद्ध है इसको रोक दिया जाए और ये मेरा कर्म शुद्ध है उसको आरंभ किया जाए ये मेरी उपासना अशुद्ध है इसको छोड़ दिया जाए ये मेरी उपासना सत्य है इसको ले लिया जाए व्यवस्था पूर्वक अधिकार पूर्वक ये व्यक्ति नहीं कर पाता या कहना चाहिए नहीं करता और दूसरे पक्ष में योग्यता कम बनाई इसलिए ये नहीं कर पाता अच्छा ये करना नहीं चाहता तो अब आपको समझ में आया कि मनुष्य का निर्माण ज्ञान कर्म उपासना से कैसे होता है और मनुष्य के जीवन का पतन अशुद्ध ज्ञान कर्म उपासना से कैसे होता है और ये दिन भर होता रहता है दिन भर अच्छा और बुरा दोनों चलते और व्यक्ति अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध कर्म अशुद्ध उपासना की धारा को रोक नहीं पाता या रोकना नहीं चाहता आलस्य प्रमाद स्वार्थ के कारण वो पुरुषार्थ नहीं करता ये स्थिति उसकी बनी रहती आप थोड़ा सा देखेंगे ध्यान देंगे आप इन सारे विचारों को छोड़ के दूर खड़े हो जाओ इंद्रियों को मन को छोड़ दो अपने आप दूर खड़े हो जाओ जीवात्मा तो क्या फिर कोई बात आएगी विचार चलेंगे नहीं चलेंगे बोलते क्यों नहीं आप चुप बैठे हाँ करो या ना करो क्या समझ में क्या आया जीवात्मा ने कहा मैं इनको छोड़ के दूर होता हूँ शरीर को मन इंद्री बुद्धि को मैं दूर होता हूँ और दूर हो गया फिर कोई ज्ञान उभरेगा क्या या कोई कर्म आएगा उभर के या कोई उपासना अच्छा वो इतनी हिम्मत नहीं करता <laughs> इतना बल नहीं लगाता कि मैं इनसे दूर हो जाऊं थोड़ा सा कभी आपने होके देखा है दूर होके देखा कभी आपने है जी फिर क्या दिखाई दिया अंकार की स्थिति रही कोई विचार नहीं देखिए हमको दूर होके देखने लगे ना जब दूर होके देखा वो तो अच्छी स्थिति है देख लिया एक व्यक्ति जब दूर होके देखने लगता है ना दूर होके देखो तो उस समय वो विचारधाराएं को खींच के ले जाती है या नहीं ले जाती वो दूर होना चाहता है और विचारधाराएं इसको खींच के ले जाती है अच्छा कभी आपने ये देखा हमें सारे विचारों से समस्त विचारों से अपने मन को रोकता हूं और अपने रोक के मन को अपनी विचार धारा को नितांत रोक दिया कोई भी विचार नहीं आने दे रहे कभी ऐसा बना के देखा हुँ? हम्म? बताओ किसने देखा हुँ? हम्म? दिखता है कभी क्या दिखता है जैसे आपको कहा जाए कि अब कोई विचार नहीं करो अधिकार पूर्वक अपने समस्त विचारों से रोक दिया रोक दो गया ऐसे थोड़े से कागज लिए क्षणों के कुछ क्षण कितने क्षण लगभग दो तीन मिनट है दो तीन मिनट अच्छा अब रोक के देखो आप आंख बंद के रोकोगे आंख खुली करके आंख खुलने में कठिनाई पड़ती होगी या नहीं हम्म अच्छा आंख बंद करके करो तो उससे कम अच्छा आंख बंद करके करो क्या करोगे आप कोई भी विचार नहीं करना कोई विषय ही नहीं बनाना अब वे रुकेंगे हाँ जी आप अपना अनुभव बताएंगे हाँ कुछ रुकी चीज कुछ रुका ऐसी स्थिति आई कितनी देर शुरू में दो तीन विचार आए फिर बाद में रुके रही हम्म? शुरू में कुछ आए दो तीन विचार अच्छा फिर बाद में रोक करके रखा अच्छा आए विचार ये दिखता है मैं ले आया ये दिखता है आप दोनों मंत्र है एक तो ये दिखाई देता आए विचार उसको रोक दिया एक ये दिखता है मैं विचारों को ले आया हाँ जी कौन बताएगा आपको क्या अनुभव होगा विचारों को ले आया तो आपका शास्त्र बना जिसमें कोई भी विचार नहीं आए हाँ जी और बताएंगे अपना अनुभव अनुभव बताओ आप हाँ ध्वनि के विषय में विचार लाता रहा हम्म। और कुछ श्वास पर भी विचार गया हम्म। श्वास चल रहा है आ रहा है जा रहा है अच्छा अच्छा विचार अच्छा अच्छा नितांत नहीं रुका हाँ जी बोलो कुछ क्षण के लिए रुका फिर कुछ विचार फिर रुका है ओम पर विचार ओम शब्द पर विचार करता है हाँ जी बोलो पहले कुछ देर के लिए विचार हो गया हम्म। फिर विचार जब आने लगा मैंने ये तो सोचा आने लगा या ऐसा दिखाई दिया मुझे आने लगा जब विचार में उठाने लगा तब तो ऐसे सोचा कि विचार नहीं उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा अच्छा अच्छा फिर ये विचार चल रहा नहीं उठाऊंगा नहीं उठाऊंगा अच्छा फिर नहीं उठाऊंगा ये भी बंद कर दिया ऐसा बना कुछ या नहीं बना हुँ? एक तो ये जान रहेगा विचार नहीं उठाऊंगा विचार नहीं उठाऊंगा विचार नहीं उठाऊंगा विचार एक तो ये स्थिति रहेगी आपका क्या रहा बोलो हाँ जी रणवीर जी काल तक खुद रोक के रखा उसमें हम्म। जो हल्के विचार थे बहुत सूक्ष्म वो ऐसे लगे कि विचार अपने आप आ रहे हैं अच्छा दिखाई देता रहा अच्छा वो रुक नहीं पाए कुछ देर तक रुक पाया हाँ मतलब रुकने में फिर सूक्ष्म आते रहे कुछ देर तक तो नितान रोका फिर उसके बाद में जो सूक्ष्म विचार थे वो ऐसे लगता था जैसे अपने आप आ रहे हैं हाँ हाँ हाँ ठीक सूक्ष्म विचार थे वो वो फिर उसको लगता था कि मैं इसको ला रहा हूँ हम्म। जो इच्छा पूर्वक अच्छा अब चलो विराम

नमस्ते सज्जनों मातृशक्ति आपने सुना था कि व्यक्ति दैनिक जीवन में ज्ञान को किस प्रकार से वह देखता है कभी वो अज्ञान को ठीक समझ के ज्ञान समझ के ग्रहण करता है कभी वह ज्ञान को अविद्या समझ के ग्रहण नहीं करता इसी प्रकार कभी वह अशुभ कर्म को शुभ कर्म जान के स्वीकार करता है कभी वह शुभ कर्म को अशुभ कर्म मान के छोड़ देता है कभी वह अशुद्ध उपासना को शुद्ध मान के ग्रहण करता है कभी वह शुद्ध उपासना को अशुद्ध जान के छोड़ देता है अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध मान के कैसे ग्रहण करता है एक व्यक्ति इस शरीर को जो अनित्य शरीर है उसको नित्य मान के चलता है उसका ज्ञान काम करता है ये शरीर सदा रहेगा और इसको वो ठीक मानता है और आगे देखो जिस समय दूसरा भाग है कि जीवात्मा नित्य है उसको अनित्यवान के वो चलता है अनित्य मानता दूसरे अंश में इस शरीर को अपने शरीर को अथवा अन्यों के शरीर को वह शुद्ध मान के चलता है यह अज्ञान को ज्ञान के रूप में ग्रहण करता है क्या समझ में आया अपने शरीर को और अन्यों के शरीर को वह शुद्ध मान के चलता है इस अज्ञान को ज्ञान के रूप में मान के स्वीकार करता है ये ज्ञान है ऐसा मानता है इसी प्रकार जो अधर्म आचरण है अशुद्ध आचरण है उस अशुद्ध आचरण को शुद्ध मान करके चलता है जैसे यम नियमों के पालन के विरुद्ध यम नियमों का भंग करना अशुद्ध आचरण को शुद्ध मान के चलता आगे भाग में जो दुख है उसको वो सुख मान के चलता है यदि आप उदाहरण लेना चाहें तो आप खीर हलवा लड्डू आदि जो सुखप्रद खाद्य पदार्थ हैं उनको आप खाते हैं अथवा उसके विषय में विचार करते हैं तो आप ये मानते हैं कि इनमें सुख है ऐसा ज्ञान काम करता है या नहीं करता कैसा ज्ञान काम करता आपका कर, सुख प्रद है इनमें सुख है पर उनमें जो दुख है उसको वो नहीं देखता नहीं मानता उसको परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोध दुख उसको दिखाई नहीं देते अब चौथे भाग में मन को वह बुद्धि को इंद्रियों को शरीर को चेतन मान के चलता है ये चेतन है आप यदि सूक्ष्म उदाहरण से समझना चाहें तो मानसिक स्तर पर हम किन्हीं भी विचारों को किन्हीं भी मान्यताओं को ग्रहण करते रहते हैं मन के माध्यम से और मन के माध्यम से ग्रहण करते हुए भी और हम समझते हैं कि मन जड़ पदार्थ है फिर भी वो मन के द्वारा स्वयं ग्रहण हो रहे हैं ऐसा मानता है आपको क्या समझ में आया मन के माध्यम से जो किन्हीं विचारों को वो स्वीकार करता ग्रहण करता है वो ये मानता है कि मन स्वयं इन विचारों को ग्रहण कर रहा है स्वतः इन विचारों को ये ला रहा है ऐसा मानता है आप परीक्षण करना चाहें तो आप देख सकते हैं और अनुभूति होती हो तो बताओ किसी को क्या अनुभूति हो ऐसा ही लगता हम्म? ऐसा ही प्रतीत होता है हाँ जी आपको कैसा दिखता है ऐसे लगता है अब ये दिमाग है उसका कि मन स्वतः स्वयं इन विचारों को ला रहा है वो ऐसा देखता है वो स्वीकार है उसको परंतु शब्द शास्त्र की दृष्टि से और अनुमान प्रमाण की दृष्टि से वो मन को जड़ पदार्थ समझता है दोहराओ शब्द शास्त्र की दृष्टि से अनुमान प्रमाण से वो ये कहता है कि मन एक जड़ पदार्थ है कार की भांति मैं चलाता हूं ऐसा मानता है वो जबकि वो दिन भर मन के द्वारा उल्टे विचारों को संग्रहित करता रहता है और जानता हुआ भी ये समझता है मन विचारों को ला रहा है और कई बार तो वो रोकना चाहता है और बलात् जैसे अंदर घुस गया हो ऐसे विचार घुसता है आप दिन में अनुभव कर सकते हैं हाँ जी बुढ़ापा तो नहीं आ गया है ऐसी स्थिति में अज्ञान को ज्ञान ज्ञान को अज्ञान अशुभ कर्मों को शुभ और शुभ कर्मों को अशुभ दुख को सुख सुख को दुख जड़ को चेतन चेतन को जड़ ऐसे मानता है आपने अभी वेद मंत्र में एक बात पढ़ी कि ईश्वर कैसा है और उसी की उपासना करने से व्यक्ति सुखों को प्राप्त कर लेता है अन्यथा वो दुख सागर में डूब जाता है ये सुना आपने सुन लिया निश्चित हो गया पढ़ते पर आपके जीवन में ऐसा हो ऐसा नहीं मिलेगा आप दिन भर ईश्वर की उपासना को छोड़ के सांसारिक पदार्थों की उपासना करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि हम ईश्वर की उपासना को छोड़ के और सांसारिक पदार्थों की उपासना करते हैं प्राय है पता नहीं चलता कभी ध्यान देते होगे तो पता चलता होगा आप बताइए पता चलता है नहीं चलता उस ओर से चलो प्राय नहीं चलता आप नहीं चलता हाँ जी बोलो आपका क्या है कभी कभी चलते कभी कभी नहीं चलता है आपका कैसा रहता हम्म? नहीं चलता तो ये क्या स्थिति है आप अज्ञान को ज्ञान समझ के स्वीकार कर रहे हैं कैसे दिन भर